मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जहाँ में उनसा चेहरा है न है खंदा जब कोई अभी तक जान सके ना औरत उनसा हंसी कोई नहीं रखी है कुदरत ने मेरे आका कमी तुझ में जो चाहा आपने मौला वो रखा है सभी तुझ में मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बदी का दौर था हर सू जहालत की घटाए थे फसादो जुल्म से चारों तरफ फैली हवाए थे खुदा के हुक्म से ना ना माकाए की बसती फसादो जुल्म जुल्म से चारों तरफ बहसाते बरसते थे खुदा को दीन को बच्चों का एक खेल समझते हर चीज को माबूद कहते थे वो अपनी हाथ से पत्थरों के बुत बनाते थे उन्हीं की सामने झुकते उन्हीं की हमद गाते थे किसी का नाम उज्जा था किसी को लात कहते थे वो बुलना में बड़ो बुत को बुतों का बा अगर लड़की की पैदाइश का जिक्र घर में सुन लेते तो उस मासूम को जिंदा जमीन में दफन करते थे घर जब ही बुराई थी जब उनमें पाई जाती थी नती शर्मो हया आँखों में घर घर बेहयाई थी मगर अल्लाह ने उन पर जब अपना रहम फरमाया तो अब्दुल्लाह के घर में खुदा का लाडला आया अरब के लोग उस बच्चे का जब एजाज करते थे है तो अब्दुल मुतलिब इस किस्मत पे अपनी नाज करते थे खुदा के दीन फिर बोल बाल मोहम्मद से जहाँ में फिर उजाला होने वाला था मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मुहम्मदुर রসুল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহ जहाँ में उनसा चेहरा है न है खंदा जब कोई अभी तक जान सके ना औरत उनसा हंसी कोई जहाँ में उनसा चेहरा है न है खंदा जब कोई अभी तक जान सके ना औरत उन हंसी कोई नहीं रखी कुदरत ने मेरे आका कमी तुझ में जो चाहा आ आपने मौला वो रखा है सभी तुझ में मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم